चरण ओ अंतर यात्रा में मुझ आत्मा की आंतरिक यात्रा कैसी चल रही है अपने आप को पहचानना मेरी क्या स्थिति है अपना अवलोकन करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए अनेक उपाय हैं उनमें से एक उपाय यह देखना है मेरा अन्यों के साथ व्यवहार भिन्न भिन्न रहता है किनके साथ मेरा व्यवहार सबसे अच्छा सबसे अधिक सम्मान वाला रहता है हमारे घर पर विभिन्न व्यक्ति आए हमारे कार्यक्रम में किनके आने पर हमें सबसे अधिक गर्व सम्मान प्रसन्नता होती है किसी को बड़े राजनेता के आने पर अधिकारी के आने पर बहुत अच्छा लगता है उनसे पूछें कि कैसा रहा कार्यक्रम कौन कौन आए तो सबसे पहले उन राजनेताओं के नाम बताता है बड़े अधिकारियों के नाम बताता है कार्यक्रम कैसा हुआ बोले बहुत अच्छा हुआ वो आए थे वो आए थे वो आए थे कोई ये बताता है कि ये धनपति आया था फला आया था बहुत पैसे वाले व्यक्तियों के नाम गिनाएगा वो आए थे कोई अभिनेता अभिनेत्री के नाम बता सकता है कहीं ऐसे कार्यक्रम में कोई आए कि ये भी आया था वो भी आया था कोई बता सकता है कि इतनी कार वाले आए थे इतनी कारें आई थीं कहीं हो सकता है कि इतने व्यक्ति आए थे जिनके पास स्टैंड गन थी बंदूकें थी सुरक्षा वाले थे ऐसे ऐसे लोग आए थे कोई कह सकता है कि कार्यक्रम में ये विद्वान आया था ये विद्वान आया था क्या कभी ऐसा कहते सुना कि उस कार्यक्रम में ये पवित्र आत्मा आई थी ये उच्च आचरण वाला व्यक्ति आया था और उस पर हमें गर्व हो बहुत कम देखने को मिलता है हम ऐसी परिस्थितियों में क्या व्यवहार करते हैं घर पर धनवान भी आया है बड़ा अधिकारी आया है राजनेता आया है किसको हम अधिक महत्व दे रहे हैं तवज्जो दे रहे हैं किसके लिए अधिक सेवाएं कर रहे हैं किसके लिए हम अधिक चिंतित हैं सन्यासी है ब्रह्मचारी है कोई निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मात्मा न्यायकारी सत्यनिष्ठ व्यक्ति है उसको अधिक महत्व दे रहे हैं इससे पता चलता है कि हम हमारी दृष्टि में किसका महत्व है और हमारी क्या स्थिति है हमारे बच्चे कैसे हैं दूसरों के सामने क्या प्रशंसा करें हम अनेक तरह की प्रशंसाएं होती हैं इतना पैसा कमाते हैं कोठियां हैं इतने पढ़े लिखे हैं अच्छे गुणवान हैं ये भी कहा जाता है लेकिन अपने बच्चों पे कितना हमें संतोष होता है कि ये एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है यदि दूसरों के सामने हमें बताना हो कि मेरा बच्चा कैसा है तो पहला हम क्या बताते हैं प्रस्तुति क्या देते हैं दूसरों के सामने दूसरे पैसे को अधिक महत्ता देते हैं हम भले ही आध्यात्मिक हों तो हम अपने बच्चों का परिचय किस रूप में देते हैं उनको अधिक कि मेरे बच्चे को इतनी तनख्वाह है बच्चे कैसे हैं अच्छे हैं इतनी इतनी उसकी इतनी तनख्वाह है इतनी तनख्वाह है उसकी आध्यात्मिकता कितनी है संस्कार कैसे हैं उसको बाद में या तो कम बताते हैं नहीं बताते हम अपने को समाज में किस रूप में प्रस्थापित करना चाहते हैं जब किसी से मिलते हैं तो अनेक बार अपने बारे में हम बताते हैं प्रशंसा करते हैं वैसे तो प्रशंसा से बचना ही चाहिए पर यदि कभी प्रस्तुति देनी हो तो हम क्या प्रमुखता से दे मेरे पास इतने खेत हैं इतनी भैंसें इतनी गायें हैं इतना अनाज है इतना टर्नओवर है मेरी दुकान का इतने शेयर हैं मेरे अथवा मेरे भाई बंधु इतने हैं मेरा एक भाई ये है मेरा एक बेटा ये है ये विदेश में है ये वहां काम कर रहा है इत्यादि रूप में हम अपने अपनी प्रस्तुति देते हैं और अपने को उस समय गौरवान्वित भी अनुभव करते हैं दूसरा भी प्रशंसा करता है जब कोई व्यक्ति हमारे से पूछता है हालचाल और कैसे हैं आप सब ठीक है तो पहली प्रस्तुति हमारी क्या होती है किसे हम मुख्यता देते हैं कोई व्यापार धंधे को प्रमुखता देता है कोई शरीर का पहले बताता है स्वास्थ्य उसके लिए प्रमुख होता है आध्यात्मिक चीजें बताने की परंपरा पूछने की परंपरा वो बहुत कम है आध्यात्मिक व्यक्ति भी आपस में मिलते हैं तो प्राय उन बातों को कम पूछते हैं दूसरी ही बातें जो स्थूल हैं वो चलती रहती हैं ये सब चीजें इस बात को बताती है कि हमारे जीवन में किसकी प्रधानता है हम जिसको अधिक प्रधान मानते हैं अंदर उसे ही भार अधिक प्रधानता देते हैं घर पर विभिन्न व्यक्ति आए हों एक धनवान आया और हम उसकी सेवा में लगे बहुत अच्छी तरह उसको बैठा रहे करना भी चाहिए उतने में कोई बड़ा राजनेता आ जाए जिससे हमारे को कोई कार्य हो तो धनवान को छोड़ करके हम उसकी तरफ चले जाते हैं अथवा इसी तरह इधर उधर जाते हैं हम उस समय ये नहीं चाहते कि ये राजनेता क्यों आ गया बीच में आ गया मैं तो इस धनिक की सेवा कर रहा था स्वागत कर रहा था हमें अच्छा लगता है ये आ गया और किसी विशेष व्यक्ति की हम कर रहे हो और छोटा आ जाए वो बीच में बाधा करे तो हमें लगता है कि ये अभी क्यों आ गया अब मेरे को इसका ध्यान देना पड़ेगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा कल्पना कीजिए हमारे घर पर हमारे कार्यक्रम में कोई निर्धन बिना पद वाला लेकिन धर्मात्मा साधक आ जाए तो क्या हम उसको महत्ता देते हैं उतनी या देंगे ये हमारे लोक व्यवहार हमारी आंतरिक स्थिति को बताते हैं पहचान करवाते हैं विभिन्न परिस्थितियां दबाव कारण होते हैं किंतु यदि अंदर आध्यात्मिकता है अध्यात्म के महत्व को हम समझने लग गए हैं और अध्यात्म संपत्ति को हम सर्वोच्च मानते हैं सबसे बड़ा ऐश्वर्य मानते हैं शब्दों में नहीं अंदर से अनुभव करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति को अधिक समय देना उसकी निकटता उसको सम्मान देना उसके आने पर अपने को सम्मानित गौरवान्वित अनुभव करना ये हम करने लग जाएंगे बातचीत में हम बहुत आध्यात्मिक बात कर लेंगे साधना भी हम बहुत कर रहे हैं लगे हैं समय दे रहे हैं और कह सकता है वो व्यक्ति कि नहीं देखो मैं इतनी साधना कर रहा हूं कर भी रहा होता है उतना अच्छा है लेकिन यदि उसके मन में साधना का इतना अधिक महत्व अभी नहीं आया है तो उसका व्यवहार भिन्न होगा संसार में जितने भी गुण हैं जितना भी ऐश्वर्य है उन सब में ये ईश्वरीय गुण आध्यात्मिकता के गुण ही सबसे श्रेष्ठ है शरीर की सुंदरता शरीर की स्वस्थता हमारे गर्व का कारण हो सकती है कई जगह कार्यक्रमों में कोई व्यक्ति आते हैं तो वो यूं करता है कि इतने अच्छे अच्छे इतने तंदुरुस्त और इतने सुंदर लोग लोग आए इतने लंबे तगड़े ऐसे ऐसे आए जिन्हें कपड़ों की प्रधानता है वो कहेंगे ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आए हमें भले ही पाश्चात्य वस्त्र हम आलोचना करें अच्छे नहीं लगे लेकिन जब नई पीढ़ी वाले ऐसे आते हैं हमारे कार्यक्रम में तो मन में ये भाव आए कि हाँ हम भी कुछ आधुनिक हैं देखो ऐसे बच्चे भी आए वो लोग भी आए थे ये सब इस बात को बताता है कि हम इन ऐश्वर्यों को अधिक महत्व देते हैं ये सारा ऐश्वर्य है किस लिए ये सारा ऐश्वर्य हम सुख के लिए चाहते हैं दुख से निवृत्ति के लिए चाहते हैं लेकिन इन ऐश्वर्यों से संपूर्ण सुख की प्राप्ति पूर्ण सुख की प्राप्ति और पूर्ण दुख की निवृत्ति जब नहीं हो सकती तो ये ऐश्वर्य उतने बड़े कैसे हो सकते हैं जिस ऐश्वर्य से पूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही हो दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो रही हो वो गुण इनसे अधिक अच्छे हैं ही क्योंकि उनका परिणाम अच्छा है ये मानते समझते भी हम जब व्यवहार में इन भौतिक चीजों को भौतिक ऐश्वर्यों को अधिक महत्व देते हैं तो अपना संकेत हमें समझ लेना चाहिए कि मैं अभी इन आध्यात्मिक गुणों को उतना बड़ा नहीं मानता जितना मानना चाहिए मैं अभी इन्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता बच्चों के लिए यदि माता पिता को कहें कि बच्चों को थोड़ा ध्यान स्वाध्याय आदि करवाना चाहिए उसमें लगाइए तो उन्हें ये समय व्यर्थ करना लगता है वो कहते हैं कि अभी तो उसकी परीक्षा है उसको ट्यूशन पे जाना है ये काम करना है ये कैसे कर सकता है कैसे कर सकती है उनको कहने के ही हिम्मत नहीं होती तो माता पिता ही नहीं कहते खुद भले ही कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं साधना रुचि है जाते हैं समझते हैं लेकिन बच्चों को उस तरह प्रेरित नहीं करते जितना कि उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं अच्छे वस्त्रों के लिए प्रेरित करते हैं अच्छी भाषा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं अधिक अंक लाने के लिए प्रेरित करते हैं विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में उसको योग्य बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं इतना प्रयत्न उसके आध्यात्मिक गुणों के लिए नहीं कर रहे इसका स्पष्ट मतलब है कि हम इन आध्यात्मिक गुणों को उतना महत्व नहीं दे पा रहे यदि माता पिता के मन में यह निश्चय है कि इन सांसारिक गुणों की अपेक्षा ये आध्यात्मिक गुण अधिक महत्वपूर्ण है तो भले ही इन आध्यात्मिक गुणों को लाने के लिए समय देने पर अन्य भौतिक गुण कुछ कम रह जाएं, समय कम मिल पाए तो भी माता पिता को असंतोष नहीं होगा उन्हें अपने आप पर विश्वास रहेगा कि बच्चा औरों से अच्छा है लेकिन प्रतिस्पर्धा दबाव तो हमारे पे ये रहता है कि अंक किसके अधिक आए किसका अधिक अच्छे विद्यालय में प्रवेश हुआ किसको अधिक अच्छा वेतन मिल रहा है क्योंकि संसार में तुलना ही इसी तरह की चल रही है और उस तुलना में माता पिता का एक दूसरे के माता पिता से मिलना वहां परस्पर का सम्मान ऊंच नीच ये सब परोक्ष रूप से चलते रहते हैं बच्चे अच्छे हैं तो माता पिता गौरवान्वित होते हैं नहीं तो माता पिता को थोड़ा अपमान अनुभव होता है निराशा होती है तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी स्थिति तुलना में देखते हुए वहां उस स्थिति को बनाए रखने के लिए वो किस पे केंद्रित होते हैं जिस पे केंद्रित होते हैं इसका मतलब अपना बड़प्पन वो उन्हीं चीजों में अधिक मानते हैं नहीं तो एक आध्यात्मिक पिता माता यदि अपने बच्चों को आध्यात्मिक बना देते हैं भले ही अन्य चीजों में वो पीछे रह जाएं, यदि वो स्वयं अध्यात्म की महत्ता को समझते हैं और अच्छी तरह और ईश्वरीय दृष्टि से भी मानते हैं कि ये अधिक श्रेष्ठ है तो अन्यों के बच्चे भले ही अधिक अंक ले आए अधिक वेतन प्राप्त कर लें उन्हें मन में ये ग्लानी या निराशा नहीं होगी कि मेरे बच्चे पीछे हैं या मैं पीछे हूं उन्हें यह दिखाई देगा कि इनके बच्चों को दूसरे बच्चों को अंक तो अधिक आ गए लेकिन स्वास्थ्य इन्होंने खराब कर लिया ये दूसरे व्यसनों में लग गए हैं न खाने पे नियंत्रण है न सोने पे नियंत्रण है कुल मिला के तो इनकी योग्यता अधिक नहीं बनी अंक आ गए नौकरी अच्छी हो जाएगी ऐसे स्थलों पर माता पिता को दादा दादी को या स्वयं हम युवा हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं किस तरह प्रभावित होते हैं ये देखना होता है इन स्थलों को देख करके हमें अपनी अंदर की बातें जिन पे हम ध्यान नहीं देते वो पता लगती हैं अभी कमी है अभी बहुत कमी है नहीं तो सुबह का कुछ समय का ध्यान कुछ स्वाध्याय कुछ व्यायाम इससे हम अपने को आध्यात्मिक मान लेते हैं क्योंकि अन्य लोग इतना भी नहीं करते हैं पर यदि हम अपने संपूर्ण जीवन को देखें तो कुछ चीजें अच्छी होते हुए भी बहुत सारी सांसारिकता भी तो हमारे जीवन में है और यदि अभी सांसारिकता अधिक है आध्यात्मिकता कम है तो हम आध्यात्मिक तो नहीं है अभी जो पूर्ण सांसारिक हैं उनकी अपेक्षा कुछ ठीक है वो भी कह देंगे कि ये बहुत आध्यात्मिक रुचि वाला है लेकिन कम से कम सांसारिक और आध्यात्मिक स्थिति 50-50 प्रतिशत तो हो इससे कम यदि आध्यात्मिकता है तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाने की स्थिति में नहीं है कोई संतोष की बात नहीं है इतना ठीक है कि हम आध्यात्मिकता को बढ़ा रहे हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इतनी सांसारिकता अभी मेरे में है मैं सांसारिक गुणों को अधिक महत्व दे रहा हूं यदि हम 50 प्रतिशत से अधिक स्थिति बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब मेरा आध्यात्मिक जीवन मैं आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाने के लायक हो गया हूं अपने इन व्यवहारों को कुछ देर के लिए देखें बैठ जाइए तीन बार ओम का उच्चारण ओ... अपने अपने जीवन की विभिन्न स्थितियों घटनाओं में अपने व्यवहार को स्मरण करें और अभी बताई गई दृष्टि से अपना अवलोकन करें धीरे धीरे एक एक करके व्यक्ति या घटना में अपनी स्थिति को देखते चले एक घटना के बाद दूसरी घटना ले लें दूसरी के बाद तीसरी स्थिति ले लें निरीक्षण करें क्या मैंने सच्चे साधक का स्तर प्राप्त कर लिया है सच्चा साधक बनने के लिए मुझे इन व्यवहारों में क्या परिवर्तन करना है और कितना करना है अब विचार कीजिए अपनी स्थिति देखिए अन्य व्यक्ति जब मेरी प्रशंसा करते हैं उन विभिन्न प्रशंसाओं में कौन सी प्रशंसा मुझे सबसे अधिक संतुष्टि प्रसन्नता देती है मेरे शरीर की प्रशंसा सौंदर्य स्वास्थ्य की प्रशंसा बुद्धि की प्रशंसा धन की प्रशंसा व्यवहार की प्रशंसा पद प्रतिष्ठा की प्रशंसा दान की प्रशंसा हृदय की पवित्रता की प्रशंसा धार्मिकता की प्रशंसा अन्यों द्वारा की गई प्रशंसा में किस प्रशंसा के लिए मैं सर्वाधिक लालायित रहता हूं किस प्रशंसा से मुझे सर्वाधिक अच्छा लगता है अब रुकेंगे आगे ये विचार करेंगे देखेंगे अन्यों द्वारा जब मेरी निंदा या आलोचना की जाती है मुझे विभिन्न विषयों में अंधे या निकृष्ट समझा जाता है तब किस कमी को सुनकर मुझे सर्वाधिक दुख होता है सर्वाधिक निराशा होती है धन की निंदा अल्पता स्वास्थ्य या बुद्धि की निंदा अल्पता पद प्रतिष्ठा का अभाव या न्यूनता धार्मिकता का अभाव निंदा व्यवहार की अकुशल अकुशलता की निंदा सगे संबंधी रिश्तेदारों के न होने की निंदा इसे दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं दूसरों द्वारा की गई किस निंदा को मैं सहन कर लेता हूं मेरी किस न्यूनता को बताए जाने पर मुझे दुख नहीं होता या कम होता है मैं उसकी उपेक्षा कर देता हूं या सहन कर लेता हूं यदि मुझे कोई गरीब कहे कोई मुझे अधार्मिक कहे कोई मुझे लौकिक व्यक्ति कहे कोई मुझे अज्ञानी कहे कोई मुझे रुग्ण कहे कोई मुझे कुरूप कहे बदसूरत कहे इनमें से कौन सी निंदा आलोचना को मैं सहन कर लेता हूं उपेक्षित कर देता हूं कम प्रभावित होता हूं रोकेंगे इसी बात को समझने के लिए एक और दृष्टि से विचार करें अपने बहुत से व्यवहारों का निर्धारण हम दूसरों के अनुसार करते हैं यदि मैंने ऐसा किया तो वो क्या समझेगा वो जैसा मुझे ठीक समझे उस तरह से मैं करूंगा ये माता पिता की दृष्टि से गुरुजनों की दृष्टि से अधिकारी की दृष्टि से राजनेता की दृष्टि से बच्चों की दृष्टि से पति पत्नी की दृष्टि से मित्र रिश्तेदारों की दृष्टि से समाज की दृष्टि से बहुत तरह होता रहता है किसकी परवाह करते हुए मैं उसके अनुरूप अपने को बनाना चाहता हूं प्रस्तुत करता हूं कार्य करता हूं किसे मैं अधिक महत्व देता हूं किसके अनुरूप बनने में मैं अधिक सार्थकता समझता हूं क्या इसमें ईश्वर का भी स्थान है यदि मैं ऐसा करूंगा तो ईश्वर क्या विचारेगा क्या सोचेगा यदि मैं ऐसा करूंगा तो ईश्वर की दृष्टि में मैं अयोग्य होऊंगा ईश्वर की परवाह रखते हुए मैं अपने कर्मों को कितना नियंत्रित नियमित करता हूं अथवा ईश्वर को छोड़ के अन्य विभिन्न लौकिक व्यक्तियों की परवाह उनके अनुसार अपने को ढालना सामंजस्य करना चाहता हूँ यदि दो की परवाह करनी हो और एक कर्म करते हुए एक की दृष्टि से गलत हो एक की दृष्टि से ठीक हो तो मैं किसको ध्यान में रखते हुए कर्म को करने या न करने का निर्णय करता हूं आप धीरे से रुकेंगे इस प्रकार का अवलोकन समय समय पर साधक को करना होता है तीन बार ओम का उच्चारण ओ आंतरिक स्थिति बनाए रखें धीरे से नेत्रों को थोड़ा खोलें दृष्टि नीचे और मौन को बनाए रखते हुए आगे के दिनचर्या में कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे ओम शम